स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काल आहुतम आदर्श आदिवत अवैश्व देवंचा ये बीच में अवैश जो है वो पूर्वान्वय का आदिवत इसलिए कह दिया दूसरे कोटि का विशेषण में नहीं जोड़ना इसको अहुतम का विशेषण में नहीं है ये जो है अवैश आदर्श परमात्म के साथ जोड़ देना है वहां का है इसे आदिवत अवैश्व देवम वैश्व देव कर्म वर्जितम ठीक है अब वो ऐसा आदमी को ले रहे हैं तो सब कुछ विधिवत कर रहा सब कुछ कर रहा है अग्निहोत्र भी कर रहा है दर्श भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन सम्यक कार्य भी कर रहा है सम्यक देश भी कर रहा है अविधि नाभूतम किंतु अविधि पूर्वक कर रहा है कोई काम नहीं छोड़ा सब कर रहा है लेकिन किसी को विधिवत नहीं किया जैसे होता है ना किसी को बता दो चार काम बता दे भेज दिया और उसने काम तो कराया कहने के लिए उसने कहा दिया भाई महाराज हमने सारा काम कर दिया आपने जो जो सब कर दिया बहुत बढ़िया भाई बात पता लगाया सब उल्टा कराया क्या फायदा हुआ किया किंतु उल्टा किया तो इसलिए कहते हैं कि किया तो सही मैंने भी आग्रह पूर्वक किया व्यर्थ ही होता है उत्तम हुई मानमपी अपी हुई मानमपी हवन सब कुछ कर ही रहा है और करते हुए भी अविद्राहुतम न यथाहुतम इत जैसे होनी चाहिए विधि उस विधि के मुताबिक नहीं किया जैसे आधुनिक जो है ना जट पंडित होते जट जट जट नहीं उड़ता है वैसे पंडित होते हैं फास्ट वाले धर धर धर धर धर करा देते सारी पूजा पाठ कराते कराते क्या हो जाता है सब सामग्री में तो डाला है यही षोडश सामग्रियों से षोडश पूजन पूरा किया लेकिन उल्टा सीधा क्रम से कर दिया जैसे याद आई दिमाग में वैसे कराते गया वो कुछ अंदर रह भी जाए तो डाल में बोल देता है स्वाहा हो गया बात खत्म हो तो उल्टा जब कर्म से करने से किया तो सही पूरा सोलह उपचार का प्रयोग गया समझ सामग्री का भी प्रयोग हो गया लेकिन विधिवत जो विधि बताया गया जो क्रम बताया गया है उस क्रम से नहीं किया वह कर्म भी व्यर्थ ही जाता है दुष्संपादितम असंपादितम अग्निहोत्रादि प्रक्षित कर्म कहने का मतलब या तो दुस्संपादित है या तो असंपादित है संपन्न ही नहीं हुआ विधि पूर्वक किया तो क्या संपन्न कहा हुआ पहले संपन्न हुआ नहीं तो दुस्संपन्न हुआ है किया उसने समय काल में भी किया सब कुछ किया इन कुछ को छोड़ दिया तो दुस्संपन्न हो गया और तीसरा सब कुछ किया लेकिन उसने कोई भी चीज विधिवत नहीं किया तो असंपन्न नहीं हो गया इसलिए कर्म सामान्य रूप में विचार करके देखते हैं या तो वह कर्म दुसंपन्न होता है या तो असंपन्न होकर रह जाता है सुसंपन्न होकर होना तो कठिन कहा सुसंपन्न की बात नहीं अपाय कहेंगे वो बात ऐसे भी होंगे ऐसे नहीं है कि संसार में है ही नहीं जो आराम से बैठ के धीरे धीरे क्रम से हिसाब से करने वाले कर्मकांडी पंडित भी है किसी विशेषण ने एक पंडित को देखा बोलते एक दिन में हम एक ही जजमान को लेते हैं दूसरा नहीं लेना है पहले ही बोले थे जजमान को भाई देखो हम तो एक ही बोले थे तो सर तो कहीं ही नहीं इसलिए पूरी दक्षिणा तुम दे सकते हो तो ठीक है नहीं तो जयराम जी जाओ तो ढूंढो जज पंडितों को चार दिन दौड़ना है उन्हें तो तुम्हारे आधा घंटा लाया उधर आधा घंटा उधर आधा घंटा उधर दो घंटे के अंदर चार दिन निपटा के आएगा और दो सौ दो सौ ले लेगा आठ सौ वो ले लेगा और मैं सीधे हजार मांगूंगा और हिसाब से करूंगा गारंटी फल मिलेगी जैसे तुम चाहो वैसे करा लो और साफ बोल देता पंडित परिषद की दक्षिणा है हजार रुपया पूरा और असिस्टेंट की दक्षिणा पांच सौ रुपया ताकि उसे भी चार्ज दौड़ना ना पड़े नहीं तो वो चार्ज हो गया ना यदि सौ देगा पचास देगा तो क्या होगा असिस्टेंट को वो चार्ज हो जाएगा दो सौ कमाने के लिए तो उसका नियम अपना हजार उसका पांच सौ मैंने कहा पंडित ठीक है आराम से तो कराता है लेकिन भगत भी आजकल जट भगत हो गए और जल्दी जल्दी हर चीज हर चीज जल्दी पांच मिनट में हो जाए सब तो ऐसे पंडित ऐसे भगत के ऐसे ही पंडित ठीक है जो पांच मिनट में निपटा रहे उल्टा सीधा जो कुछ भी है वो भी खो जाए हाँ तो तुम्हारे लोग का निनस्ती हो जाएगा उसका हाँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती तो क्या करे विवेक है नहीं तो इसलिए कहते दुसंपादितम असंपादितम अभिहत्रा विप्रक्षितम कर्म किम करोगे ऐसे किए हुए कर्मों का क्या होगा कहते उच्चते आ सप्तमान सप्तम सहितांश तस् करतो लोकान हिनस्ती उस सात लोक के सहित उस कर्मी के लोगों को वह स्वयं नष्ट कर लेता है हिनस्ती की नष्ट कर लेता का मतलब यह लोग थोड़े नष्ट हो जाएंगे उसे हिनस्ती ही कहने जिस फल के लिए कर्म कर रहा था वह तो फल उसको मिलेगा नहीं ये कहने का तात्पर्य है सारा उसका जो मेहनत व्यर्थ ही जता है आयास मात्र फल प्राप्त आयास मात्र वाले लोक विफल उसको नहीं मिलेगा ये उसका तात्पर्य है सम्यक क्रियमाणेश ही कर्मसु अब आगे ना सुसंपन्न का व्यक्ति का सम्यक क्रियमाणेश ही कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपेण भूराज सत्यांता सत्यलोक फलम प्राप्यंते जो सम्यक प्रकार से कर्मों को किए जाने पर कर्म का परिणाम के अनुरूप भूरारी सत्य पर्यंत ये जो सात लोग है उन्हीं सात लोग फल रूपेण प्राप्त किया करते हैं तीनों का एवं होते कर्म कर्मणा तो आप हिंस्यंतम इव आया मात्र तो अव्यविचारी इत्यतो हिनस्थित शिक्षक है ये हिनस्थी शब्द क्यों प्रयोग किया उस पर इतने लंबी चौड़ी व्याख्या किए ते लोग क्योंकि वे जो लोग है एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा एवं भूत अग्निहोत्रादि कर्म करने वाला व्यक्ति जो है अर्थात जो अभूत है या अविद्या होता है या कुछ अंगों का लोप करके कर रहा है दर्शादी का लोप अंग लोप विशिष्ट अग्निहोत्र है या अभूत मैंने अकाल में कृत अग्निहोत्र है या तो अविधि पूर्वक कृत अग्निहोत्र ये तीनों प्रकार के कर्मियों का एक शब्द में ले लिया इन्होंने एवं भूतेर अग्निहोत्र कर्मणा तू अप्राप्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा तो कभी प्राप्ति नहीं हो सकता इसीलिए हिंसंत इव असमात्र तो अभी विचारी इसलिए कहा गया हिंसन करने के समान अपने आप का नाश करने के समान है क्योंकि उसने व्यर्थ ही जो है ना आयास मात्र किया है और वो भी आयास मात्र अभी विचारी मैंने निश्चित रूप से उसका जो सब कुछ क्रियाकलाप है व्यर्थ का आयास मात्र ही होगा व्यर्थ प्रयत्न मात्र ही होगा इसी बात को मन में रखते हुए मंत्र का मंत्र में अतः हिनस्थित अथवा इन सात लोगों को न लेकर के वो सात पीढ़ियों को भी दे रहे हैं दो सात पिंडदान आदि अनुग्रहण पिंडदान आदि के द्वारा अनुग्रह के करने करते हुए संबद्ध मारा पित्त पिता व प्रतिपिता पितामह पुत्र पौत्र प्रभौत्र स्वात्मोपकारा सप्त लोका उक्त प्रकरण अग्निहोत्रादि भवंती यदि हिंसा है पिंडदान आदि का अनुग्रहण करते हुए संबंधित होने वाले जो लोग हैं कौन कौन पिता पितामा प्रपितामह पुत्र तावत प्रपौत्र स्वात्मा च और स्वयं अपने आप ये सब जो उपकार को प्राप्त हुआ उपकार सप्त सप्तलोक कहा इन्हीं को का उपकार से उपकृत इन लोगों को सप्तलोक शब्द से कह दिया गया उक्त प्रकार प्रकार से एकादश अग्निहोत्रादि पुरुष के द्वारा जो है उनके उन सप्त लोगों की प्राप्ति अर्थात इन सात पीढ़ियों की कल्याण यह उनको जो उपकार होनी चाहिए वह उपकार उन्हें प्राप्त नहीं होता इसी को हिंसंति शब्द से कह दिया है न भवंती थी हिंसंती और जिस अग्नि में समय प्रकाश डालने कहा गया देदार एलायती हर्ची ही उस अग्नि के भी सप्त जीवा है जब तक समय प्रकाश से शब्द जीवा प्रकट नहीं होता तब तक अग्नि में आहुति नहीं देना चाहिए नियम और सब जीवा आजकल क्या है इसलिए अगर कौन इतना समय देखेगा वो रोली मोली से यूज कर देते ना उसको और रंग उसे सब जीवा का चित्र बना देते यज्ञ मंत्र हो सब जीवा तो है वहां जाना उसमें अरे वो तुमने ड्राइंग बनाने से अग्नि की सब्जी हो जाएगी हाँ, ये ठीक है उपासना के लिए तो हो सकता है उसमें वैसे भावना कर लूंगा और उपासना कर सकता हूँ लेकिन उपासना करने से कर्म के योग स्थूल अग्नि उस रूप का हो नहीं सकता है जब तक स्वयं प्रज्वलित सम्यक प्रकार से नहीं होता इसलिए यहाँ पर उन सब जीवाओं को लेकर वर्णन करना जरूरी समझते हुए क्यों कर्म कठिन है वो कहना अंतिम कोटि में सम्यक क्रियमाणेश ही कर्मसु वो सम्यक क्रियमाणता भगवान क्योंकि इस पर जवान होना अग्नि में जरूरी है आहुति देने के लिए और प्रतिदिन सुबह शाम जब मैं अग्नि प्रज्वलित करूं उसी प्रकार की सप्त जीवा विशिष्ट अग्नि होवेगी इसे कोई भरोसा है क्या और आप सब जीवा अग्नि होने से पहले समय निकल जाए कई बार ऐसा हो जाए मान लो गिरी लकड़ी मिल जाए तो फंग फंग घूम घूमते ही निकल जाएगी और सब जीवा कहा से होगा टाइम निकल गया फिर असमय काल में हो गया फिर कहोगे आहुत जी समस्या है ना इसकी इसलिए कर्म से कभी जो परावित विषय तो मोक्ष नहीं मिल सकता है ये साबित करने से वर्णन किया जा रहा है काली कराली चमनो जवाच सुलोहिताया चूम्रवर्णा विश्व रुचि च देवी लेला यमाना सप्त जुहा काली कराली जब मनोजवाच सब नाम है पहली जीवा का नाम काली दूसरी कराली तीसरी मनोजवा दूसरी चौथी लोहिता पांच सुधुम्र वर्णा स्पुलिंगिनी छठी और विश्व तो पहला बिल्कुल ज्यादा काले रंग का होता होगा इसलिए काली कर दिया होगा दूसरी कराली है भूरे रंग हो जाए मनोजवा मंदिर वैसे बड़ी तेज से लगता है फिर सुलोहिता फिर लाल लाल रंग होगी फिर सुधूम्र अब वो वर्ण के आकाश में होकर होती जाती है फिर हम तलिंग अत्यंत स्पष्ट होकर दिखने लगती है अग्नि के समान प्रकट होने लगता है और अंत में विविध रूप का चित्र होता हुआ दिखाई देने विश्व रुचि राम की सप्त जुवा होती है इस प्रकार हमारा देवी या सप्तरुचि ही में होगा यदि सप्त जुवा ये सात दुआएं हैं ये योग्य है ये सात की बिना होती हुई ग्रसन नहीं हो सकता जैसे आपकी इच्छा के रख लीजिए एक आप होकर नहीं कर रहे है ना पूरी जीवा लड़कड़ा जाए तो बातें छोड़ दो जीवा कभी किसी एक हिस्सा में होता है ना टंग कैंसर किसी एक हिस्सा में कैंसर हो जाए या उसमें फोड़ा आम आदमी का अनुभव होता है कैंसर तो छोड़ो सबको का अनुभव होना है जैसे कभी आप फोड़े हो जाते अब उस जगह में जो रस उस क्षेत्र से जो रस ग्रहण होनी चाहिए वह रस आस्वादन आप नहीं कर पाएंगे बाकी हिस्से से जो रस ग्रहण होना है षठ रसों में से जो जो होने हैं क्योंकि अलग अलग हिस्सा का अलग अलग ग्रहण होता है कहीं कड़वा कहीं तीता कहीं जो है खट्टा कहीं मीठा अलग अलग जगह है उसके पॉइंट्स उसी तरह सब जीवाओं में भी अलग अलग है जो आहुति ले जाने हैं तो सातों मिल करके समय प्रकार से आहुतियों को ले जा सकते हैं एक भी लोप है तो फिर वह समय प्रकार से आहुति ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए इनको जिह्वा कर अग्नि की जिह्वा अब मनुष्य की जिह्वा के समान है और ये भी आश्चर्य सप्त संख्या बहुत ही विलक्षण संख्या है अनेकों चीजों में सब संख्या आता है सृष्टि का निर्माण भी सात दिनों में पूरी हुई इसलिए आप सात बारी मानते ज्योतिष शास्त्रकारों ने स्थापित किया इस बात को ये मानते बुधवार का दिन शुरू हुआ था बुध से शुरू करते उसकी गणित है गणित करने से अपने आप आ जाता आपको सात बार सात सात बार नहीं हो सकती है सप्तलोक ऊपर सप्तलोक नीचे सप्त पीढ़िया भी आपने सुना था सात पीढ़िया माने गए सही नहीं और सात समुद्र ये मानते ही नहीं सत्तारा प्रबंधी स्नात ये भी कहा है मंत्र में पंच ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि तो सब प्राण करके पंच सब ज्ञान इंद्रियों के रूप में स्वीकार किया गया ज्ञान की सामग्री इसी प्रकार से द्वीप हो गया सप्तलोक हो गया अदौर ऊपर सप्त प्राण हो गए सप्त जीवा तो ही है वर्तमान में सप्त पीढ़िया हो गए सात समुद्र है और भी विलक्षण चीजें ले रहे हैं तो सात ज्ञान की भूमिका है अध्यास में सात स्तर अवस्थाएं आप उसमें पंचदशी के सातवें प्रकरण में पढ़ते हैं वह सात अवस्थाएं बताई गई है सब मिला करके और इन सारी चीजों को देने वाले हमें जो ऋषि हैं वो तो भी सप्तषि है और इन सप्तषियों के कारण सप्त छंद ही मुख्य छंद है उसी में सारे छंद अंतर्वाह हो जाते हैं सात छंद के अंतर्गत ही सभी छंद अंतर्भूत हो जाते हैं और लौकिक दृष्टि हो गया भौतिक दृष्टि से देखेंगे आप बाहर सूर्य के साथ घोड़े बताए गए सूर्य के सात घोड़े और रंग भी सात प्रकार के रूप भी उसके वजह से सूर्य संबंधी सप्त रूपों का वर्णन किया गया है योग में आइए सब चक्र है छठ चक्र का भेदन कर सप्तम चक्र में जब अवस्थित हो जाता है तो मुक्ति होती है तंत्र में चाहिए सब प्रकार की शक्तियों को प्रधान परिणाम माना जो योग कारण में मस्तिष्क के सब शक्तियों में स्वीकार किया जिसकी सप्त शक्तियां पूर्ण जागृत है उसी व्यक्ति पूर्ण जागृत माना जाता है पूर्ण रूप में ना वही व्यक्ति को मुक्त माना जाता है तो सभी शास्त्रों में आप जहां भी देखेंगे सब संख्या महत्वपूर्ण वस्तुओं को सातों में ही गिनती कर अन्य चीज नहीं है लेकिन कहीं तीन का भी महत्व उतनी ही है अग्नि तीन होते हैं वे तीन होता है कर्म संबंधी सब तीन तीन की संख्या भी बहुत बात तीन प्रकार के दुख है इत्यादि कई प्रकार आते हैं तीन और सात अत्यंत महत्वपूर्ण है भाष्यकार काली कराली जमनो जवाच सुलोहिताया जुम्रवर्णा सुलिंगिनी विजरुचि च देवी जयायमान अग्निर हवि आहुति ग्रसनार्था एता सप्तजवाह काली आदि नामों से सात जीवाएं जो कही गई है विषरुचि पर्यंत लेलाय माना जब ये सम्यक प्रकार से दीप्त तो होकर लहराती हुई रहती है धगधगाती हुई दिखाई दे रही है लीलाए माना लहरा रही है आहुति रचनाता हवीर आहुति हविश की आहुति जो आप दे रहे हैं उसको तो ग्रसन करने में समर्थ होती योग्य हो जाती है एक सप्तजी हुआ उस अग्नि का यही वे सात जीवाएं हैं जिनसे युक्त होकर अग्नि आहुतियों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है अरे एतादशी अग्नि प्रतिदिन प्रातः सायं प्रज्वलित करते हुए सम्यक काल सम्यक देश सविधि पूर्वक करना कठिन है इसलिए सुसंपन्न कर्म भी असंभव के समान हो जाता है इसलिए कहते अगले में स्पष्ट ही ऐसे कर्मी को क्या प्राप्त होता है केवल कर्मी की बात उपासना कर्मी नहीं ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं है यहाँ इसलिए यहाँ प्रकार में जहाँ ब्रह्मलोक शब्द आएगा उसका भी अर्थ हमें स्वर्गलोक ही लेना पड़ेगा साधारण स्वर्ग केवल कर्मी जहां तक जाके लौटता है और कर्म और उपासना दोनों करने वाला ब्रह्मलोक तक जाएगा ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहाँ तीन व्यवस्था दे चुके हैं वहां से लौट भी सकता है या प्रार्थना ऐसे बन जाए तो अगले जन्म में वो इंद्रादि भी हो सकता है अगला कल्प में या वहां पर ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्त भी हो सकता है तीन विकल्प दिया ना पहले विचार हो चुका है इसका ब्रह्मलोक के विषय में तो यहाँ पर केवल कर्मी की चर्चा चल रही है इसलिए कथिये चरते भ्राजमाने आहुदयो हिया ददायन तम देता सूर्य रश्मय यत्र देवानाम पतिरेको अधिवास एतेषु यरते भ्राजमानेशु एतेषु भ्राजमानु यरते यथाकारं च आहुतयो हि आददायन् एतेषु भ्राजमानेशो जो अग्निहोत्र पुरुष इन सब जीवांग सम्य प्रकार से दीप्यमान होने पर यह चरते यथाकारं चरते और आहुतयो ही आददायन यथा काल आचरण कर रहा है सम्यक विधि पूर्वक आहुतियों को प्रदान करता हुआ जो व्यक्ति है वह उस व्यक्ति को एता यही जो कौन ये आहुतिया सूर्य रश्मया सूर्य की रश्मिया ही उस व्यक्ति को नयंदी ले जाते हैं बड़ी प्रशंसा करते हुए ले जाते हैं आइए आइए महाराज पधारी आपने तो ऐसा ऐसा विलक्षण कर्म किया है बड़ी प्रशंसा करते हुए कर्म की महिमा गाते हुए जो है उसको यहाँ से ले जाते हैं कहा ले जाएंगे यत्र देवानाम पति रेको आदिवास जहाँ पर इन समस्त प्रकार के देवताओं का अधिपति का अधिवास स्थल है वो स्वर्ग रूपी लोक में ले जाते हैं शिकार सर्वाधिष्ठाता है सृष्टि का अभिमानी देवता उसके पास ले जाएंगे आदित्य मंडलस्थ पुरुष है हिरणमय पुरुष जो वर्णन किया गया है उसके पास ले जाएंगे एदेशो भी जो भाव चरदे कर्माचरती इन अग्नि हुआ वेदों में ही जहां अग्नि जब अग्निहोत्री जो अग्निहोत्री कर्मों का आचरण करता है इन कर्मों को अग्निहोत्रादि वो सब लेना दस पूर्णिमा सब कुछ समय प्रकार से करना है तेना अग्नि कविशोचा जीवावे राजमान दीप्यमानेश अग्नि जो वासो जो अग्निहोत्री अग्निहोत्र सगल कर्मों का आचरण करता है तो भी कैसे यदा कालंच यश कर्मणो यह काल तत्कालम यथा कालम जिस कर्म का जो काल है उस काल में उस कर्म करने का नाम यथा काल है यजमानम आददायन तारसयता काल वाला जो यजमान होकर आददायन आददाना आहुदया आददायन छांदस पाठ है आददाना किनको आहुतियों को किसके द्वारा ता यजमान निर्वर्तिता निर्वर्तिता यजमान के द्वारा आहुतियों को सम्यक प्रकार से निर्वर्तित किया गया तो स्वरूप सिद्ध कर दिया गया तम तारसम यजमानम नयंदी प्रापयंदी येता आहुतयो उसी को ये आहुतिया ले जाती है इन आहुतियां किस रूप में आकर ले जाएगी आहुतियां तो अपने दे दिए थे वो तो जल के राख हो गए है ना और कहा है अभी तो वो आगे कहा से ले जाएंगे आहुतियां तब कहते बात सही है आपकी इमा अने निरोधा सूर्य शिरश्वयो वे आहुतियां सूर्य के रश्मि के रूप में आकर के ले जाएंगे इसलिए चांद प्रसद में आप पढ़ेंगे कि यहाँ जो ऋग्वेद के कर्म है वो पूर्व दिशा में जाकर के रश्मियों के साथ एक ही भूत होकर विराजमान है सूर्य में जो यजुर्वेद का कर्म है जो सामवेद का कर्म है जो अथर्वेदीय संबंधी कर्म है चारों वेद संबंधी कर्म जो प्रत्येक अग्निहोत्र आदि कर्म कांड में आपको करने पड़ते हैं वो सूर्य के विभिन्न विभागों में जाकर स्थापित हो जाते हैं और रश्मियों से अभिन्न होकर के नित्य प्रतिनित्य व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सुखादि को प्राप्त कराते हैं जैसे ठीक उसी प्रकार से मरणोत्तर क्षण में आकर के वे ही आहुतियां उन रश्मि का रूप धारण करके उस व्यक्ति को नयन करते हैं ये यहाँ पर कहा गया है तो जो कि छांदो प्रसादी पर आधार बना करके बात कह रहे हैं सूर्य से रश्मय भूतवा रश्मि द्वार सूर्य का रश्मिया हो करके ही वो ले जाते हैं वो तो अपने आप में रहती नहीं है तो कैसे आएगी इसलिए सूर्य का रश्मि के रूप में होकर आते हैं कहा ले जाते हैं यद तो यशमिन स्वर्ग जिस स्वर्ग में देवाराम पति इंद्र एक सर्वान ऊपरी अधिवसती थी अधिमास सभी के ऊपर उपाध्यवान से है क्या आपका पद हो जाता है सर्वेशा ऊपरी वसती सर्वेशा ऊपरी वसती थी वह कह दिया गया अधिवास वो इंद्र आदि जो कहे जाते इंद्रलाल शेर नामों से जिसके बारे में कहा जाता है वह व्यक्ति के पास वह दिव्य पुरुष के पास जो सर्वाधिष्ठाता है सर्वाभिमानी है उसके पास ले जाते हैं कैसे ले जाते हैं अभी थोड़े बताओ जान के बताएंगे ऐसा कहीं आपके अंदर कर्म की वासना हो तो लग जाए कर्म ऐसे ले जाते ये ही ये ही जित होते लोक में भी देखा जाता है कोई आ जाए और आप ये न कहे आइए आइए बैठिए अरे क्या आदमी है लगता मोड़ी इसका ठीक नहीं रहता है हम आए हैं गौ पानी नहीं पूछा बोला भी नहीं बैठो भी नहीं कहा चाहे तो पूछनी दूर की बात है है, है नहीं ऐसे लोग कहते जैसे लोग में भी यही चाहते आप आए तो आपको कोई बुलावे स्वागत करे बिठावे आसन दे नहीं तो स्वयं आसन साथ ले जाएंगे हम क्या करें कोई देने वाला नहीं है तो आज के जमाने स्वयं ले जाना पड़ता है साथ नहीं सब तो क्यों जब आपके इस लौकिक व्यवहार में आपके अंदर इतनी अपेक्षाएं हैं तो इतना विशिष्ट कर्म करने के बाद आपके अंदर अपेक्षा नहीं होगी कि मुझे उचित सम्मान मिले उचित ढंग से ले जाया जाए वहां सिंगाकर लगनी चाहिए स्वर्ग में लगेगा ही उसको ये ही ये ही तमाहुत स्वर्ग सूर्य सरस्वेरे वहां दी प्रिया वाचम अभिवदंत्यो ये शव पुण्य स्वर्ग ब्रह्मलोक तम आहुत स्वर्च वे दीप्तिमती आहुतियां तेजस्विनी आहुतिया जो सूर्य से रश्मि सूर्य के रश्मियों के माध्यम से तम उस व्यक्ति को तम यजमान उस यजमान को यही यही थी वो अंति आइए आइए ऐसे जो है बड़े स्वागत करते हुए ले जाते क्रियाओं वाचम अभिवदन दो और मीठी मीठी बातें बोलती रहेगी वो आप यहाँ सारे कर्म करते वक्त जितना आपने कष्ट झेला है उन मीठी शब्दों को सुनते ही दो मिनट के अंदर साफ दूर हो जाता है बड़ा सुख कुछ दिन पहले एक व्यक्ति बता रहा था अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आ गया वो होता है शादियों के लिए आते हैं मेट्रिक उसने उसे कंडीशन दिया मुझे ऐसी लड़की चाहिए और जात का और लिख करके ये जाति या मोगी पंजाबी होना चाहिए ऐसे होना चाहिए सब लिख कर नीचे लिखता है एक स्पेशल लाइन जो मुख्य है जो जरूरी यहाँ पर प्रसंग में रख रहा है एक ही बात उसने निवेदन किया है और लड़की जब मैं नौकरी से लौटता हूँ तो मुस्कुराते मीठी मीठी बात बोलते मेरे को स्वागत करनी चाहिए ऐसी लड़की चाहिए अब बताओ वो अखबार में छपा और जो लड़की उसकी कंडीशन में तैयार है वही ना भेजेगी खबर हाँ मैं तैयार हूँ मेरी शादी करो और वो लड़का बता रहा था स्वामी आपको आश्चर्य हो गया कंडीशन डालने के बाद में पहले ऐसे सारा एडवर्टमेंट देता था तो सौ डेढ़ सौ आ जाती थी लड़कियां बहुत पढ़ा लिखा है बड़े संपन्न लड़का है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो इसलिए कई लाइन लग जाती थी ये कंडीशन छापने के बाद केवल तो तीन ही आया वो तीन ही आया कहने का मतलब वो कह रहा था इसका मतलब आजकल के तो सारे के सारे लड़के बिना लड़ाई लड़ाई जीवन चलाना ही नहीं चाहते हर सेकेंड तनाव में रहना है जिंदगी बिना तनाव में चलनी चाहिए तभी नाव पार हो जाएगी बिना तनाव का नाव कैसे तो बात तो क्या जिंदगी है लोगों की मैंने एक हर व्यक्ति के अंदर सामान्य रूप से अच्छा रहता है लेकिन मजबूरी है कोई सफल हो या ना हो लेकिन ऐसा कर्मी निश्चित से सफल हो जाएगा जो सम्यक कर्म करने वाला है उसको तो बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हुए मुस्कुराते हुए प्रेम से स्वागत किया जाएगा तो क्यों कहा ले जाते हैं वो क्यों अर्चयन क्या केवल अभिवादन ही नहीं केवल कथन ही नहीं अर्चना भी करते कभी सेंट छिड़केंगे फिर फोन माला फेंकेंगे माला पहना रहे हैं कहीं कुछ कर कहीं गुलाल बिखेर रहे होंगे आचयंत पुण्य सुखदालों का कहीं बस यही है वो जो तुमने बड़ा सुकर्मों को करके प्राप्त किया वो पुण्यमय लोग वो यही लोग है ऐसे करके उसको पहुंचाते कथम सूर्य सुश यजमान वहन तुच्छत यही यही थी आह्वयंत्या सूर्य की रश्मिया यजमान को किस प्रकार से ले जाते हैं उसके बारे में कथन किया जा रहा है यही यही इत्यादि मंत्रों के द्वारा ऐसा आह्वान करते हुए ले स्वर्चस दीप्तिमत्या स्वर्चस दीप्तिमान किंच प्रियानिष्ठा वाचन और जो इष्ट वचन है स्तुत्याज लक्षण स्तुति आदि रूपा इष्ट वचनों को ही वे सदा कथन करती हुई अभिवदन दिया उच्चारयंत्यो उच्चारण करती हुई दिया पूजयन और अर्चना भी करती पूजा भी करती हुई ले जाती है एश युष्माकम पुण्य सुकृत यथा लोक फल स्वरूप तद यही तुम्हारा वह पुण्य से प्राप्त सुकृत लोक है यथा ब्रह्मलोक फलरूपा जैसा इसलिए यथा कह दिया क्योंकि वास्तविक ब्रह्मलोक नहीं है ये केवल कर्म को ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए यथा फल फलरूपा जैसे उपासक को मिल जाता है कर्म विशिष्ट उपासना करने वाले को ये केवल उपासक को जैसे मिल जाता है उसी प्रकार इसका फल रूपा तुम्हें भी एक लोक की प्राप्ति होगी एवं प्रियाम वाच्यम अभी वहंती इस प्रकार के प्रिय वचनों का कथन करते हुई वे उनको नयन करती ले जाती है स्वयं भाषा स्पष्ट कर देते है ब्रह्मलोक स्वर्ग ब्रह्मलोक शिव से स्वर्ग लेना चाहिए क्यों प्रकरणार्थ प्रकरणार्थ का मतलब केवल कर्म प्रकरणात टिप्पणी चाहिए केवल कर्म का प्रकरण होने से केवल कर्मी का विचार यहाँ चल रहा है उपासना का मामला ही नहीं जोड़ा गया है इसलिए केवल जो कर्मणा सत्यलोक से अप्राप्त कर्मणा पितृलोक भाव अन्य का श्रुति ने स्पष्ट कहा है कर्म के अगर पितृलोक स्वर्गलोक ही प्राप्त हो सकता है ब्रह्मलोक को प्राप्त सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सकते इसके आधार पर यहाँ ब्रह्मलोक को प्रकरण के अनुसार अर्थ करना पड़ेगा स्वर्गलोक प्रवाहिये यज्ञ रूपा अष्टाशोक्तम नवरम ये कर्म एक श्रियो यभिनंदी जरा मृत्यंते पुनरेवा पियंती ज्ञान रहित कर्म इतनी ही फल देने वाला है इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकता आप जितना भी कर्म कर ले उपासना रहित जो कर्म होता है वह केवल स्वर्ग की आपकी आयु को बढ़ाएगा घटाएगा अधिक कर्म करो तो अधिक समय तक रहो कम करो तो कम समय तक रहो लेकिन केवल कर्म आप ये ना समझें कि हम जिंदगी भर केवल कर्म करेंगे सर्वोत्कृष्ट कर्मों का स्रोत विधिवत निरंतर जो नित्य है समय प्रकार से पालन करता हुआ करूंगा तब भी आपका स्वर्ग में पूर्ण शतायु भले आप बन जाएंगे लेकिन उससे उत्तरवर्ती लोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्यों एक अदृढ़ प्रवाच ये सब कर रहे प्रवाह है मानी विनाशी है प्रवृत्त होने वाले हैं नष्ट हो जाने वाले हैं और अदृढ़ है कब धक्का लेके आपको बाहर कर देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है अस्थिरता है जैसे यहाँ का दरित्र नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाग दरित्र को नमस्कार करना पड़ता है कोठारी भंडारी पुजारी कब नहीं तो इधर उधर चमचागिरी करके बाहर भगा देगी कोई भरोसा नहीं तो वैसे वहां से भी कब धक्का मिलेगा वो तो कोई भरोसा अदृढ़ है अस्थिर है यज्ञ रूपा यज्ञ रूपा यज्ञ का स्वरूप है यज्ञ के निर्वर्तक है कौन अष्टाशोत्तम अवरम अष्टा संख्या वाले न्यूनतम अष्टा संख्या है जिसका आवरम कौन है वो सोलह ऋतिक यजमान यजमान पत्नी हो तो गया ना अठारह सोलह तो ऋतु गई चार चार एक गुट का होता है ऋग्वेदी यजुर्वेदी सावेदी अथर्वेदी और अतिरिक्त दो है यजमान यजमान पत्नी है तो अठारह अष्टाशोक्तम अष्टा जो है सोलह ऋतुजा पति पत्नी मिलकर के यजमाना तो ये जो मिलकर के अठारह हो गए यह है और केवल ज्ञान वर्जित तो उपासना वर्जित तो धर्म तेष कर्मा जिनमें यह कर्म है जिनमें आश्रित होकर के कर्म किया जा रहा है उन्हें अष्टादश में आश्रित होकर के कर्म होगा अष्टादश लोगों पर आश्रित होकर के ही कर्म होगा इसलिए ये तय अभिनंदन की मूढ़ा ऐसे इस अनित्य विनाशी अस्थिर यज्ञ रूपी जिन अष्टादश प्रतिष्ठित होकर करता है ऐसे उस कर्म को जो लोग श्रेय समझ करके अभिनंदन करते हैं मस्त होते हैं आनंदित होते हैं वे मूढ़ ते मूढ़ा जरा मृत्यु पुनरेवापियंधी ऐसे मूढ़ लोग जरा मृत्यु पर जन्म मरण रूपी चक्र में दो बार अवश्य ही लौट आते हैं इसमें कोई संशय नहीं है भाष्यकार एक अच्छा ज्ञान रहितम ज्ञान उपासना टिप्पण स्पष्ट है ज्ञान रहितम कर्म ज्ञान रेप करे कर्म उपासना कर्म एक फल इसकी इतनी बल है स्वर्ग तक की फल अविद्या काम कार्यम क्योंकि अविद्या से जन्य काम का कार्य होता कर्म का फल इससे बढ़कर नहीं हो सकता अतो असार दुख दुखम निंदे इसलिए केवल कर्म दुख का ही कारण हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं इसलिए असार रूपा है वैराग्य वैराग्यार्थ ही इन सब चीजों को कथन अपराविद अपराविद्या से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक पराविद्या में प्रवेश असंभव है प्लवा मैंने विनाशन ये विनाशी ही मैंने अस्मात क्योंकि जो है ये थे अदृढ़ अस्थिरा यज्ञ रूपा क्योंकि सब के सब अदृढ़ है मैंने अस्थिर है कौन ये यज्ञ रूपा केवल कर्म इसलिए यज्ञ रूपा कर केवल कर्म रूप है यज्ञ रूपाणी यज्ञ रूपा यज्ञ के रूप है यज्ञ निर्वर्तक यज्ञ को संपादन करने वाले लोग उनको यज्ञ रूपा कहा जाता है ये कितने हैं अष्टादश अष्टादश संख्या का अठारह संख्या वाले हैं कौन कौन है वो सोलह पत्नी यजमान अष्टादश सोलह तो ऋत्विज है पत्नी और यजमान ये कुल अठारह हो जाता आश्रम कर्मोत्तम कथितम शास्त्रेण इनको ही आश्रित होकर के कर्म होता है ऐसे शास्त्रों के द्वारा कथन कर किया गया है वैदिकी कर्म जितने भी होते हैं मुख्य रूपेण कामी कर्म की कामना कर किए जाने वाले कर्मों में ये पूरा अठारह होना जरूरी है और उनमें भी फिर बाद में नियमन कर दिया अठारह का पशु सोमयागों के लिए और चतुर्मा दृष्टि के लिए भी इतना ही चाहिए या अग्निहोत्र के लिए खुद ही कर लेगा इसकी जरूरत है तभी तभी दो से ही काम चलता है तो दृष्टियों के लिए कहा भाई पांच चाहिए उनकी चार तो ही है एक होता का असिस्टेंट से काम चले वर्णन किया किसी में आठ है किसी में बारह है और किसी में पच्चीस तक भी है इतने तक आप जा स्वयं से लेकर पच्चीस तक वैदिक कर्मों के लिए अपेक्षित लेकिन अधिकतर जो स्वर्ग प्रदायक मुख्य कर्म जितने भी हैं जिनका नाम आपने यहाँ पहले आदर्शमा पौर्णमा इत्यादि से लिया है उनके लिए तो अष्टावश ही होता है उसी के आधार पर कहा गया नहीं तो मन में शंका हो सकती है जब मीमांसा आदि पढ़े हैं है? है ये नहीं या कल कोई आपसे पूछ पड़ेगा या अष्टावश कैसे कर दिया ऐसे भी कर्म होते हैं जिसमें पांच से काम चलेगा नौ से भी काम चलेगा तो इसलिए बता दिया ये जो यहाँ पर वर्णन किया गया जिनके बिना वो अग्निहोत्र करते भी व्यक्ति अनग्निहोत्री हो जाता है उसका अग्निहोत्र व्यर्थ हो जाता है ऐसे जिन कर्मों को गिना गया इन कर्मों के लिए बिना अठारह का होगा नहीं इनमें भी वैदिक कर्म को लेना अवैधिक कर्मों को नहीं जो निरग्निक अवैधिक कर्म जिस अतिथि का है ना यहाँ पर आया था अतिथियों की जो पूजा नहीं किया तो वो वैदिकी तो है किंतु साविक वैदिक कर्म नहीं है निरग्निक वैदिक कर्म है अवैष्णुदेव वैष्णुदेव यार उसमें भी जरूरत नहीं है कोई है आपको कहा ऋतु की अपेक्षा नहीं है वहां पर वह कह रहा है यजमान अपने आप करने वाला चीज है और यजमान पत्नी करेगी तो भोजन बन जाता है उसको थोड़ा वहीं अग्नि में डाल देती है और बलि वैष्णुदेव के रूप में स्वयं यजमान जब भोजन करेगा तब न रखेगा समझ जीव जंतुओं के लिए अलग फिर देवताओं के लिए रखते कि नहीं रखते ब्रह्मचारी लोग हैं कोई नहीं रखता हमें पता हमने देखा है कैसे भोजन करता ब्रह्मचारियों को भी भोजन करना नहीं आता है पशुपत चबा डालते धड़ाधड़ निपटा देते भोजन खाना ही नहीं आता किस तरह से आचमन करना है पता नहीं किस तरह से जो है परिभ्रमण करना है पता नहीं संस्पर्श क्या है मालूम नहीं यमादियों के लिए कितनी आहुति देनी मालूम नहीं आहुति के बाद उसका जो है शोधन कैसे करना मालूम नहीं भूत भरी करते कभी है नहीं तो उसके बाद पुनराचमन के अंतर विधान करना है अविधान के बाद भक्षण होगा भक्षणांतर उच्चिष्ट त्याग उसके किए बिना नव पार्वती तो भागते अगले भंडारे में अरे उच्चिष्ट त्याग करने के मंत्र बोला ही नहीं उसको फिर रुद्र के लिए जलार्पण किए नहीं क्यों उठ गए भोजन से बुरा विधि भोजन खाने का जान लो पहले नहीं जानते तो हमारे पास लिखा हुआ है फोटो स्टैंड करके दे देंगे विधिवत खा रहा तो कम से कम विधिवत खाया करो तो कम से कम अक्ल थोड़ी सुधर जाएगी अंतकरण शुद्ध होएगा सही ढंग से अन्न जाएगा विधिवत अन्न जाना चाहिए और अन्न खाते हुए भगवान का नाम लेते रहना स्वाहांत के साथ चतुर्थम स्वाहांत के साथ यदि प्रत्येक कवली को अंदर डालोगे उससे बहुत ही जल्दी निश्चित रूप में अंत क्रम शुद्ध हो जाएगा और वेद वेदांत आपके लिए तो कुछ भी नहीं अनुभूति की तरफ अपने आप अनुभूति हो सकती कि जैसा खा गया वैसा बने मन पशु खा रहे इधर पशु जी रहे हो फायदा कुछ नहीं चीजों में व्यर्थ जीवन गवा रहे हैं न नौकरी चाकरी मिलनी है न कुछ मिलना है हाँ शब्द जाल है मुक्ति नहीं चाहते हो सुनकर कथा प्रसन्न कमाना चाहते तो उसके लिए जरूर काम करेगा ये जो सुन रहे हो इन मुक्ति के लिए जो श्रवण कर रहे हो इससे मुक्ति नहीं होगी क्योंकि विधिवत अपना कोई कार्य जो कर्म नहीं कर रहे हैं जो नित्य नैमित्तिक स्वाभाविक अवश्य भावी जिसके बिना आपके शरीर का जीवित ही रहना असंभव है उन कर्मों को भी हमारी विधिवत नहीं करते हैं तो अंतगण शुद्धि का प्रसंग ही नहीं है अंतगण शुद्धि के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते श्रवण करने से क्या होगा इसलिए भाष्यकार यहाँ जोर दे इन बातों को कह देते स्थलों में कि इसलिए अगर देखो एक आश्रम कर्म उत्तम कथितम शास्त्र ना शास्त्र कार्य यही बात है कर्म वास्तव में आश्रित कहाँ है इन कर्म को करने वालों में ही है बाहर के अन्यत्र तो नहीं है वेदों में नहीं है कर्म वेद केवल कर्मों के शब्दों के कथन करके चले जाते हैं ज्ञापक के कारक नहीं है और कारक तो स्वयं आप ही है कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए इसलिए कहते हैं एक आश्रम कर कल्पम शास्त्रेण शास्त्र अष्टादशु आवरम केवल ज्ञान वर्ग जिन उन अठारह लोगों में आवर है मैंने केवल केवल क्या है ज्ञान वर्जितम कर्म उपासना रहित कर्म अतः तेषा अवर कर्म आश्रयाणाम इसलिए वे जो लोग अठारह जिन अंदर केवल कर्म के आश्रय बने हुए हैं उन अष्टादशा नाम अदृढ़तया वे अष्टादश स्वयं के स्वरूप उनके अदृढ़ होने के कारण से प्लवत्ता अदृढ़यता है पाठ अशुद्ध है अदृढ़तया प्लवत्वाद अदृढ़ होने के नाते अस्थिर होने के नाते वैसा प्लवत्वाद प्लवत्वाद प्लवते सा फलेना नाश होते हैं केवल खुद नाश नहीं होते फल सहित नाश हो जाते हैं तत्साध्यम कर्म तादृश विनाश का साध्य कर्म है कुंड विनाश आदि वत क्षीर दत्यादि नाम तवत में तकार नहीं है कुंड विनाश आदि वत क्षीर दत्यादि नाम तस्था नाम नाशा जैसे कुंड का विनाश हो गया तो उस कुंड में रहने वाले दूध दही का भी नाश हो ही जाएगा ठीक जिनमें आश्रित है यह कर्म कुंड के समान अष्टादश लोग ये लोग के नाश हो जाने के साथ साथ इनमें रहने वाला कर्म भी उनको लेके डूब जाएगा यह ये तो कर्म श्रेय श्रेय करणम थी ये अभिनंदी दी अविवेकी मूला इसलिए जो अविवेकी मूढ़ लोग ऐसा कर्म को विनाशी कर्म को भी मेरे श्रेय का साधन है ऐसा जब मान के चलते हैं वे अभिनंदन दी अभिरिष्यंती और आनंदित होते हैं अतः इसलिए वे लोग जराम च मृत्यु चित जरा मृत्युम बुढ़ापा और अंत मृत्यु किंचित काल स्वर्गे स्थित्वा कुछ समय के लिए वो स्वर्ग जरूर जाएंगे कर्मफल स्वरूप वहां जा करके वहां से पियंती पुनः वहां से लौट आते हैं स्वर्गलोकम विशालम का छीने पुण्य इत्यादि तो भूयो भी गच्छन्ति एक बार नहीं बारम्बार ऐसे होते रहे जब तक उसके दिमाग में ये विचार नहीं आता है कि भाई हमें केवल कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग से वापस लौट माए चलकर चलते रहेगा अरे मुझे केवल कर्म करना नहीं सात तो उपासना भी करनी चाहिए ताकि कम से कम यहाँ मुक्ति नहीं भी होगी तो स्वर्गलोक से परे ब्रह्मलोक तक तो मैं पहुंच सकूंगा कर्म मुक्ति के लिए तो प्रयासशील हम हो ही सकेंगे सदैव मुक्ति यद्यपि संभव है या असंभव है अनिश्चित होने के कारण से ऐसी स्थिति में हमें तो कम से कम